कर दूसरों तक इन अच्छी बातों को पहुँचाने अपना और दूसरों के ईमान का तहफ़ करने की अल्लाह तोफ़ी अता फरमाए आइए मिलकर इस दुआ को पढ़ लें कि हज़रत अनस फरमाते हैं रदी अल्लाह तहों और उम्मिन हजरत उम सलमा रदी अल्लाह तहा फरमाती हैं कि सबसे ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु इसी दुआ को मांगा करते हमारी तालीम के लिए या मुकल्लिबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक ए दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को तेरे दीन पर साबित कदमी अता फरमा या मुकलबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक या मुकलबल कलूब सबित कलबी अला दीनिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इस सिलसिले की आखिरी नशस्त है और इस नशिश का जो उन्वान है वो उन्वान इस तरह है कि हम अपना अपनी औलाद का और अपनी नस्लों का और तमाम मुसलमानों का ईमान कैसे बचा सकते हैं वो अहदीस तयबा जहन में रहें कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशाद फरमाया एक वक्त वो आएगा यानी ईमान के इतने लुटेरे होंगे ईमान इस तरह जाया हो रहा होगा और इस इस अंदाज से ईमान को लूटा जा रहा होगा क्या आपने उसकी तर्जमानी फरमाई और गैब की खबर इशाद फरमाई फरमा कुर्ब क़यामत में एक ऐसा वक्त आएगा कि आदमी सुबह मोमिन होगा तो शाम को काफिर हो जाएगा शाम को मोमिन होगा तो सुबह काफिर हो जाएगा और अपने ईमान को दुनिया की हकीर दौलत की खातिर बेच देगा बर्बाद कर देगा और एक हदीसी बाग में फरमाया कि कुर्ब क़यामत में एक ऐसा दौर आएगा ईमान की हिफाजत इतनी मुश्किल होगी दीन पर चलना इतना मुश्किल होगा कि आपने फरमाया जैसे हथेली में अंगारा रखना और जो दिल में ईमान की कदर रखता होगा जो अपनी आखरत की फिक्र रखता होगा उसके मुतालिक फरमाया कि वो जब गुजरेगा कब्रस्तान से और कब्र की तरफ निगाह करेगा तो वो तमन्ना करेगा कि काश में ज़मीन के ऊपर ना होता कब्र के अंदर होता और इस फितने के दौर से पहले मैं इस दुनिया से चला गया होता इस कदर ईमान की हिफाजत मुश्किल होगी इस कदर दीन पर चलना मुश्किल होगा कि जो दीन का दर्द रखता होगा वो ये तमन्ना करेगा कि इस फितने के दौर से पहले मैं इस दुनिया से चला गया होता और इस कब्र के अंदर होता कि जो कब्र के अंदर है वो ईमान की सलामती के साथ चला गया और मुझे अपने ईमान की फिक्र है अल्लाह रब्बुल रबालमीन हम सबको ईमान की सलामती अता फरमाए तो आज जिस किस्म का दौर है ये दौर आपके सामने है और हम इस तहफ़ ईमान नशिस्तों के सिलसिले में इस दौर की वजाहत कर चुके हैं कि ये दौर ऐसे फितनों का दौर है कि ईमान का और इस्लाम का लिबादा ओढ़कर ईमान के डाकू जगह जगह फिर रहे हैं बाज कदियानी हैं तो बाज यहूदी ईसाई हैं हिंदू हैं लेकिन उन्होंने इस्लाम का लिबादा ओढ़ा हुआ है फिर दुनियावी तालीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम फिर उसके प्रोफेसर फिर अखबारी कॉलम निगार फिर टीवी पर आने वाले जदीद मीशत को जानने वाले ये जदीद तालीम से रोशनास ये जदीद नाम नहाद स्कॉलर्स कि छोटी छोटी दाढ़ियां रखकर खशखशी दाढ़ी रखकर दाढ़ी मुंडे पैंट शर्ट पहनकर टाई लगाकर नंगे सर ये हुलिया भी है और दाढ़ी वाले भी हैं जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जैसे आप अगर सर सैद अहमद खान की तस्वीर देखें और फिर सर सैद अहमद खान की तफसीर को देखें और सर सैद अहमद खान के नज़रियात देखें तो आप परेशान हो जाते हैं यानी सर सैद की तस्वीर देखने के बाद आदमी को यकीन नहीं आता कि ऐसी तस्वीर वाला कि इतनी बड़ी दाढ़ी रखी है इतनी बड़ी टोपी लगाई हुई है इस्लामी हुलिया है और जिसने ये कहा कि मैं मुसलमानों को उरूज दूंगा मैं मुसलमानों को दुनियावी तालीम देना चाहता हूँ मैं मुसलमानों को मुतहद करना चाहता हूँ ये नारा लगाकर जिसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्याम किया और अंग्रेज़ी तालीम भी दी पूरा अंग्रेज़ी निसाब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में रखा एक सब्जेक्ट इस्लामियात का रख दिया और जो सर सैद की सोच है आज स्कूल कॉलेजों में वही पाई जाती है कि इस्लामियात बरए नाम कि बच्चा मंटसरी से लेकर पीएचडी तक ग्रेजुएशन तक 14 साल 18 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी अलहम से लेकर वन्नास तक कुरान का तर्जमा नहीं जानता कुरान की तफसीर नहीं जानता से तैयबा को नहीं जानता एक पतली सी इस्लामिया तीसरी जमात से शुरू होती है और ये जाती है इंटर तक भी ए तक तो बज़ाहिर इस्लाम का खैर खा होकर इतनी बड़ी दाढ़ी रखकर कभी कोई सोच सकता था इसी तरह मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को देखें तो उसकी भी इतनी बड़ी जो है दाढ़ी है लेकिन वो रसूलुल्लाह का दुश्मन रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां की और उसने हुजूर को मिर्जा गुलाम कादियानी ने हजूर को आखिरी नबी मानने से इनकार कर दिया फिर आप जरा थोड़ा और परेशान होंगे कि आप देखेंगे कि दारुलूम देवबंद का जिसे बानी कहा जाता है और जिसका ये दावा है कि हमने बर सग़ीर में इस्लामी तालीम को आम किया कुरान और हदीस की तालीम को आम किया लेकिन आप कासिम नानवतवी की जब किताब तहजीर नास उठाते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जो इस्लाम का लीडर बन रहा है उसके ये तसुरत हैं कि ख़ातमनबीन का तर्जमा आखिरी नबी करना यह जाहिलों का तरीक़ा है ख़ातमनबीन का आखिरी जो नबी तर्जमा ये अहल फ़हम के नज़दीक अहल इल्म के नज़दीक नहीं है कितनी बड़ी गलत बात कही और इसी गलत बात की बुनियाद पर पूरी कादियानियत की बुनियाद है तो इंसान जब यह हालात देखता है तो परेशान हो जाता है कि एक शख्स टीवी पर आकर कुरान पढ़ रहा है बड़ी तेजी के साथ कुरान की आयतें पढ़ रहा है हदीसें पढ़ रहा है लेकिन बाद में पता चलता है कि उसका इस्लाम से ताल्लुक नहीं वो तो सीआईए का एजेंट है और उसे सीआईए ने ट्रेन किया है वो कुरान हदीस का नाम तो ले रहा है लेकिन जो उसका मकसद है बेहयाई आम करना मुसलमानों में रोशन ख्याली के नाम पर दीन से उन्हें दूर कर देना बेहया कर देना उनमें यहूदियों ईसाइयों के कल्चर को आम करना वो इस एजेंडे पर काम कर रहा है तो इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि की उस हदीस को भी हमें मद्देनजर रखना है कि आपने फरमाया ये इल्म दीन है जरा देख लेना कि तुम किससे हासिल कर रहे हो इल्म दीन दीन की कोई बात अगर सीख रहे हो तो जरा देख लेना किससे सीख रहे हो कहीं ऐसा ना हो कि दीन का नाम लेकर तुम्हारा ईमान बर्बाद करने वाला हो तो ऐसे हालात में सवाल ये पैदा होता है कि हम अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें और हमें तो अगर कुछ मिला तो हमारे बुजुर्गों से मिल गया लेकिन आज जो हमारी नस्ल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में जा रही है और टीवी पर बैठकर नए नए स्कॉलर्स को सुन रही है और नए नए नजरियात और ख्याल और अकायद पैदा हो रहे हैं हम अपनी औलाद और अपनी नस्लों को इस फितने के दौर में ईमान की हिफाजत का दर्ज कैसे दे सकते हैं क्योंकि अगर हमारे में से किसी मुसलमान का नुकसान हो जाए यूं समझिए कि किसी की फैक्ट्री को आग लग जाए किसी का बंगला जल जाए किसी की दुकान तबाह हो जाए किसी के बच्चे मर जाएं बल्कि दुनिया की सारी सारी दौलत तबाह हो जाए लेकिन इतना बड़ा नुकसान नहीं है जितना बड़ा नुकसान ईमान की बर्बादी है अगर हमारी औलाद का एक अकीदा भी खराब हो जाए यकीन जानिए हमारी औलाद बर्बाद हो गई अब हम उसे अच्छा खिलाएं अच्छा पिलाएं अच्छी तालीम दें दुनियावी वो चाहे दुनिया का बादशाह बन जाए चाहे वजीर आजम हो चाहे किसी भी पोस्ट पर हो बेकार है कि जब ईमान बर्बाद हो गया हमेशा हमेशा के लिए आखिरत बर्बाद हो गई तो हमने कुछ भी नहीं किया उसके लिए कि असल तो क्या है ईमान की सलामती है ईमान की सलामती के लिए हम कुरान से रहनुमाई लें सुर यूसुफ आयत नंबर 36 में है अल्लाह रबालमी निशाद फरमाता है वह दखल नाहु सिजना फतयान हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब जेल में कैद कर दिया गया तो उस जेल खाने में दो नौजवान आए और इन दो नौजवानों का किस्सा कुरान ने बयान किया मुख्तसरन ये कि उन दो नौजवानों में से दोनों ने एक ख्वाब का जिक्र हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने किया कौल अहदुमा इन्नी अगानी आसिर खमरा उनमें से एक बोला कि मैंने ख्वाब ये देखा कि मैं बादशाह के बाग में हूं अंगूर का खोशा मेरे हाथ में है तीन अंगूर के खोशे हैं और उन्हें निचोड़ रहा हूं उनका रस निकाल रहा हूं वकाल आखरू इन्नी अगानी अहमिल फौकरासी खुबजन दूसरे ने कहा कि मैंने ख्वाब ये देखा है कि मेरे सर पर रोटियां हैं ताकुल तयरमिन हो और मेरे सर पर जो रोटियां हैं उसे परिंदे खा रहे हैं नब्बना बितावीली ही यूसुफ अलैहिस्सलाम आप हमें इस ख्वाब की ताबीर बताएं बताएं इसका क्या मतलब है इन नवा मिनल मोहसिन बेशक हम आपको नेकुकार देखते हैं यूसुफ वसलाम ने इस ख्वाब की ताबीर दी और ख्वाब की ताबीर ये बयान की आपने फरमाया कि जो तीन अंगूर के खोशे निचोड़ रहा है तीन दिन के बाद इसे आज़ाद कर दिया जाएगा और इस पर जो इल्ज़ाम है कि ये बादशाह को शराब पिलाने वाला था और इस पर ये इल्ज़ाम था कि इसने बादशाह को जहर देने की कोशिश की है तो ये इस इल्ज़ाम से बरी हो जाएगा आज़ाद हो जाएगा और दूसरा शख्स कि जिसने ये ख्वाब बयान किया कि मेरे सर पर रोटियां हैं और परिंदे वो खा रहे हैं आपने फरमाया कि तुझे फांसी लग जाएगी और तुझे बादशाह को जहर देने के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया जाएगा और तेरी लाश को सूली पर लटका दिया जाएगा और तेरी लाश को परिंदे खाएंगे तेरे सर को ये जो इंसान खोर परिंदे हैं वो खाएंगे दोनों हंसने लगे और कहने लगे कि हजरत हमने तो कोई ख्वाब देखा ही नहीं हम तो मजाक कर रहे थे तो आपने फरमाया कि खुदी अमरुल्लदी फी तस्तफ्तियान जो मैंने कहा वही होगा और ये अब अल्लाह की तरफ से फैसला हो चुका तो इसके तहत मुबसरीन ने यह बयान किया कि दीन के मामला में अल्लाह वालों के सामने मजाक नहीं करना चाहिए उनकी तोहन बेअदबी नहीं करनी चाहिए क्योंकि अल्लाह वालों की जबान से जो निकल जाता है वही होता है और वो जैसा कहते हैं वैसा ही हो जाता है तो यूसुफ सलाम तो अल्लाह के नबी हैं उन्होंने जो कहा वही हुआ क्योंकि जो उनकी जबान से निकल जाए वही होता है इसीलिए आला हजरत इमाम सुन्नत ने फरमाया कि किसी वली को खास तौर पर जो मजजूब होते हैं इनको तंग नहीं करना चाहिए क्योंकि जज्बात में अगर उनकी जबान से कुछ निकल जाता है तो फिर हदीस पाक में है कि बाज अल्लाह के मकबूल बंदे वो हैं कि जो पुराने लिबास में होते हैं फटे पुराने लिबास में होते हैं मट्टी लगी हुई होती है बाल जो है बिखरे हुए होते हैं और इनकी जबान से जो निकल जाता है और जिस बात पर कसम खा लें रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लाह इनकी कसम को जरूर पूरा फरमाता है ऐसे कई वाकयात हैं तो खैर जब उन्होंने ये कहा कि ये तो हमने मजाक किया था तो आपने फरमाया अब तो जो मेरी जबान से निकल गया वही होगा और ये फरमाया कि आलिम रब्बानी के सामने जबान संभालनी चाहिए और वली के सामने जबान भी संभालनी चाहिए और दिल भी संभालना चाहिए इसी तरह जब किसी वली के मज़ार पर जाएं तो जबान भी संभालें और दिल भी संभाले इसीलिए फरमाया कि इंसान जो है जब किसी वली के दरबार में जाए मज़ार शरीफ पर जाए तो जब दिली मिलान हो और तबीयत चाह रगी हो ओक़ हो तब हाजिरी दे भी दिली के साथ हाजिरी न हो ओक़ पैदा करे और फिर बा अदब हाजिरी दे और इतनी देर हाजिरी दे जितनी देर तक वो अदब कर सकता है लेकिन आपने ख्वाब की ताबीर बयान करने से पहले इन्हें अपना मुआजा बयान किया आपने फरमाया मैं जो ख्वाब की ताबीर बताता हूं यह ख्वाब की ताबीर नहीं होती ये तकदीर में जो लिखा हुआ है वो मैं फैसला सुनाता हूं और यह बिल्कुल अटल और यकीनी फैसला होता है फिर आपने जो अल्लाह ने आपको इल्म गैब अता फरमाया उसका जिक्र किया और आपने इनसे कहा कि जो खाना तुम्हारे पास आने वाला है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि आज तुम्हें खाना इतना दिया जाएगा इसमें ये चीजें होंगी इस बर्तन में दिया जाएगा और लाने वाला ये शख्स होगा इसने ऐसा लिबास पहना होगा सारी तफसील आपने बयान कर दी जब खाना पेश किया गया तो जैसा आपने कहा था वैसा ही हुआ तो ये आपका मुआवजा देकर मुतासर हो गए आपने ये मुआवजा क्यों दिखाया आपने मुआवजा इसलिए दिखाया ताकि उन्हें आपकी अजमत का इजहार हो जाए इसीलिए फरमाया कि अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हैं लेकिन नेक बंदे अपनी ताकत का इजहार उसी वक्त करते हैं जब जरूरत होती है कि जैसा कि बुजुर्गों ने वाक़ लिखा कि एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा मुझे इसमें आजम सिखा दें तो आपने फरमाया कि तू इसमें आजम सीखने का अहल नहीं है जब बहुत जिद की तो कहा कि शहर के दरवाजे पर चला जा जो मंजर देख चुपचाप देख कर आ जाना कोई हरकत मत करना वो शहर के दरवाजे पर गया तो देखा कि एक गरीब आदमी गधे पर सवार होकर जंगल से लकड़ियां काट कर आ रहा है जैसे ही शहर के दरवाजे पर पहुंचा तो सिपाहियों ने बदतमीजी की और इसका मजाक उड़ाना शुरू किया इस पर तंज और ताने उन्होंने कसे वो सर झुकाकर सुनता रहा फिर उन्होंने इसको मारना शुरू कर दिया और इसको मारा इसने मार खाई उन्होंने गदा छीन लिया उसकी लकड़ियां छीन ली वो चुपचाप चला गया और जिस शख्स ने ये मंजर देखा वो बुजुर्ग के पास आया और कहने लगा हजरत आपने मुझे कहा भेज दिया था मेरा तो सर से लेकर पांव तक खून जोश मारने लगा लेकिन वो दो सिपाही थे उनके पास असला भी था और मैं उनसे मुकाबला नहीं कर सकता आपने मना किया था कोई हरकत मत करना लेकिन अगर मुझ में ताकत होती तो मैं इन दोनों सिपाहियों की खबर लेता आपने फरमाया क्या देखा तो उसने ये सारा मंजर बताया तो आपने कहा कि ये बताओ अगर इस वक्त तुम्हें इसमें आजम आता होता तो तुम क्या करते तो उसने कहा कि अगर इसमें आजम मुझे आता होता तो मैं इसमें आजम पढ़कर इन दोनों को जला देता आपने फरमाया इसीलिए तो मैं कहता हूं कि तू इसमें आजम का अहल नहीं है इसमें आजम उसे दिया जाता है कि जिसमें तहमुल हो बर्दाश्त हो वो अपनी ज़ात के लिए किसी को नुकसान ना पहुंचाए और वो अपनी ताकत का इजहार उसी वक्त करे जब अल्लाह का हुक्म हो और जब वो दीन की ज़रूरत महसूस करे कहा तुम्हें पता है मुझे इसमें आजम किसने सिखाया तो उस बंदे ने कहा मुझे नहीं मालूम तो अल्लाह के वली ने कहा कि वो जिस लक्कर हारे पर जुल्म कर रहे थे जिसका गदा छीन लिया जिसकी लकड़ियां छीन ली जिसको मारा इसी अल्लाह के वली ने मुझे इसमें आजम सिखाया लेकिन अपनी जात के लिए उसने इसमें आजम को इस्तेमाल नहीं किया तो हजरत यूसुफ सलात वसलाम का ये वाक़ हमें यह भी दर्ज देता है कि अल्लाह के वली को और अल्लाह के नबियों को अल्लाह ने बड़ी ताकतें दी हैं लेकिन जब दीन की ज़रूरत होती है दीन की मोहब्बत लोगों के दिलों में बिठाने के लिए वो ताकत का इजहार करते हैं तो आपने अपने इल्म का इजहार किया ताकि वो यकीन कर लें कि ये अल्लाह के नबी हैं मुफसरीन ने बयान किया कि ऐसा क्यों किया आपने तो कहा इसलिए किया क्योंकि आप जानते थे कि इन दोनों में से एक मर जाएगा तो आप चाहते थे कि उस पर मेरी अजमत का इजहार हो जाए और फिर मैं ईमान की दावत दूं तो वह ईमान कबूल कर ले आप उसका ईमान बचाना चाहते थे तो ईमान बचाने के लिए आपने अपनी अजमत का इजहार किया दोनों जब मुतासर हो गए जब मुतासर हो गए तो फिर आपने उन्हें ईमान की दावत दी दोनों ने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए फिर उन्होंने अपनी इस कोताही पर और बेअदबी पर माफी भी मांगी आपने उन्हें माफ भी कर दिया और फिर जिसे सूली चढ़ाई गई अल्हम्दुलिल्लाह हजरत यूसुफ सलाम की कोशिशों से अल्लाह ताला ने उसे ईमान की दौलत दी और उसका खात्मा ईमान पर हुआ तो इससे पता चला कि अल्लाह के नेक बंदे दूसरों के ईमान को बचाने के लिए कितनी फिक्र करते हैं और कितनी वो इस बात को अहमियत देते हैं कि दूसरे के ईमान का तहफ़ किया जाए अब जो हमारा मौजूद था और इस वाक़े को हम किस लिए लाए कि हम अपने ईमान को और अपने बाल बच्चों के ईमान को कैसे बचा सकते हैं तो हजरत यूसुफ सलाम ने जब उन्हें अपना मुआवजा दिखाया वो मुतासर हुए तो आपने कहा जालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी ये वो इल्म है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया यानी गैब का इल्म मुझे मेरे रब ने दिया ये मेरा जाती नहीं बल्कि अल्लाह की अता से है इन्नी तरक तुम मिलत कौमिन बिल्लाही वहम बिल आखिरत हम काफिरून जो कौम अल्लाह को नहीं मानती थी और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखती थी मैंने अपने आप को उससे दूर रखा और उसके दीन को मैंने इख्तियार नहीं किया व तबा तो मिलत आबाई इब्राहिम व इसहाक व याकूब व तबातू बस इस आयत करीमा को हम समझ लें और थाम लें इन हमारा ईमान भी महफूज रहेगा हमारी नस्लों का ईमान भी महफूज रहेगा वह तबा तुम मिलत आबाई मैंने अपने आबाओ अजदाद बाप दादा के दीन को थाम के रखा क्या कहते हैं यूसुफ सलाम वह तबा तो मिलत आबाई मैंने अपने बाप दादाओं के यानी बुजुर्गों के दीन को थाम के रखा मेरे बाप दादा कौन हैं इब्राहिम व इसहाक व याकूब याकूब सलाम आपके वालिद हैं इसहाक सलाम दादा हैं और इब्राहिम सलाम पर दादा हैं हजरत यूसुफ सलाम के वालिद हैं याकूब सलाम और इसहाक सलाम उनके दादा हैं और इब्राहिम सलाम उनके परदादा हैं तो पता क्या चला कि हम अगर अपने और अपनी औलाद के और अपनी नस्लों के ईमान को तहफ़ चाहते हैं तो हम अम्बिया सहाबा एहल बैत अतहार बुजुर्गान दीन अलिया कामिलीन के जिन पर अल्लाह ने इनाम किया जिसका जिक्र सुर फातिहा में किया गया इह दिन से ए अल्लाह तू हमें चला सीधे रास्ते पर फिर आगे ये नहीं फरमाया कुरान और हदीस के रास्ते पर क्योंकि अल्लाह का इल्म अजली है अल्लाह हमेशा हमेशा से हर बात जानता है वो जानता है कि कादियानी भी कुरान हदीस का नाम लेंगे हदीस का इनकार करने वाले भी कुरान कुरान करेंगे परवेजी फिर का भी और सर सैद अहमद खान को मानने वाले भी कुरान कुरान करेंगे जो मुकलद नहीं है गैर मुकलदीन वो भी कुरान कुरान करेंगे जिन्होंने रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां बेअदबियां की वो भी कुरान कुरान करेंगे जो मुसलमानों को मुशरक और बेदती कहेंगे वो भी कुरान कुरान करेंगे तो हर फिरका कि हजूर ने फरमाया तिहत्तर फिरके होंगे एक जन्नती होगा बाकी सब जहन्नमी होंगे तो हर फिरका कुरान और हदीस की बात करेगा और हजूर ने तो यहां तक फरमाया कि जो जहन्नमी फिरका होगा जो बुत परस्तों से लड़ेगा नहीं वो लड़ेगा मुसलमानों से यानी बुत परस्तों से कोई लड़ाई नहीं और सारे शिरक और बिदत के फतवे मुसलमानों से पर मैं वो कुरान इतना पढ़ेंगे कि हर वक्त इनकी जबान पर कुरान और हदीस ही होगा कुरान और हदीस के अलावा कोई बात ही नहीं करेंगे और जबान के इतने मीठे होंगे कि शहद से ज्यादा मीठे लेकिन दिल जो है वो भेड़िए से ज्यादा खौफनाक होगा और फरमाया उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं होगा कुरान उनके हलक के नीचे नहीं उतरा होगा और ये कौन लोग होंगे तो जिस शख्स ने हुजूर की बेअदबी की तो आपने बेअदब को देख कर फरमाया यानी ये बेअदब लोग होंगे रसूलुल्लाह के बेअदब होंगे लेकिन कुरान और हदीस की बात करेंगे तो अल्लाह तू हमें सीधे रास्ते पर चला सिरातल कुरान वल हदीस कुरान और हदीस का रास्ता ये नहीं फरमाया गया क्योंकि हर गुमराह फिर कुरान हदीस ही का नाम लेता है फिर मैं सिगातुल्लदीन अनअमत अलैह रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया तो अगर हम आफियत चाहते हैं तो हम दामन थाम लें अंबिया का हम दामन थाम लें सिद्दीक अकबर का फारूक आजम का उस्मान गनी का हजरत अली का साहब कराम का इमाम हसन इमाम हुसैन अहल बैत अतहार का हम दामन थामे हजूर गौस आजम का शेख मुहदस दहलवी का दामन थामे इमाम अहमद रजा का दामन थामे कि जिन्हें अल्लाह रबालमीन ने ये फैज़ अता फरमाया क्या फरमाते हैं अगर मेरे दिल के दो टुकड़े किए जाए तो एक हिस्से पर अल्लाह का नाम होगा और दूसरे हिस्से पर रसूल्लाह का नाम होगा इमाम अहमद रजा कि जिन्होंने कोई नई बात हम तक नहीं पहुंचाई कोई भी सवाल हुआ कुरान की आयतें फिर हदीसें फिर बुजुर्गान दीन के अकवाल पहले साहबा के अकवाल फिर ताबईन के अकवाल फिर तब ताबईन के अकवाल फिर आयम मुजतहदीन के अकवाल फिर अलिया कामिलीन के अकवाल आपने बयान किए और आप ने जब इश्क रसूल पर काम किया और जिन लोगों ने गुस्ताखियां की आपने उनके खिलाफ लिखा तो उन्होंने आला हजरत के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया तो देखें इश्क हो तो ऐसा हो लोगों ने कहा कि लोग आपको गालियां दे रहे हैं जिन लोगों ने रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां की आपने इनके खिलाफ सख्ती से लिखा है तो वो आपको गालियां लिख रहे हैं और गालियां छाप रहे हैं और इनके पास अंग्रेजी इमदाद भी है और ये बड़ी तेजी के साथ किताबें छाप रहे हैं और आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पता है आला हजरत के खिलाफ कैसा कैसा प्रोपेगेंडा किया गया आला हजरत की किताबें जिन लोगों तक नहीं पहुंची उन्हें कहा गया कि इमाम अहमद रजा तो कादियानी था किसी को कहा गया वो तो शिया था किसी को कहा गया वो गैर मुकलद था किसी को कहा गया कि वो हदीस का इनकार करता था यहां तक के अरब के आज भी ओलमा जिन्हें आला हजरत की किताबें मिली तो पहले उन्होंने किताब देखी कहा इमाम अहमद रजा भाई हम इनकी किताब नहीं पढ़ते हमें ये बताया गया ये कादियानी है तो कहा गया कि इन्होंने तो कादियानियों के खिलाफ दस किताबें लिखी हैं अब इनकी किताबें तो पढ़े हैं जब उन्होंने आला हजरत की किताब पढ़ी सिर्फ आठ सफ़े की किताब हमारे मौलाना इरफान शामी साहब खुद बयान करते हैं कि आला हजरत की एक किताब मैंने दिखाई एक सवाल का जवाब था आठ सफ़े का वो उर्दू में था तो उन्होंने अरबी में ट्रांसलेट करके शाम के ओलमा को दिया तो उन्होंने उस पर जो तकारीज लिखी हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो तकारीज पढ़ी हैं तो उन्होंने ये लिखा है कि चौदहवीं सदी में इमाम अहमद रजा जैसा ना पैदा हुआ है ना क्यामत तक पैदा हो सकता है सिर्फ कितने सफ़े पढ़कर आठ सफ़े पढ़कर तो इतना प्रोपगंडा किया गया और जाहिर सी बात है कि आज भी देखें मीडिया की ताकत जिसके पास हो प्रोपेगंडे की ताकत जिसके पास हो लोग उसी की बात सुनते हैं तो आला हजरत को बड़ा बदनाम किया गया और आज तक उसके असरा अरब ममालिक के अंदर हैं क्योंकि अरब के लोग उर्दू नहीं जानते तो मतलब उनको झूठ बोला गया लेकिन आला हजरत ने फरमाया मेरी जात को जो बदनाम करना चाहता है वो कर रहा है मुझे पता है लेकिन मैंने इनके खिलाफ कलम क्यों तेज चलाया आला हमने फरमाया अगर इस्लामी हुकूमत होती तो जो गुस्ताखे रसूल होता उसकी गर्दन उड़ा दी जाती उसका कलम छीन लिया जाता लेकिन हमारे पास इस्लामी हुकूमत नहीं कि कोई इनके खिलाफ हुकूमत के जरिए प्रेशर डाले तो अल्लाह मेरे पास एक कलम है और एक कागज है और ये टूटा फूटा हुजरा है मैं तेज कलम इसलिए चलाता हूं कि ये मेरे खिलाफ हो जाए मुझे गालियां दें और जितनी देर ये मुझे गालियां देंगे मेरे आका की बेदबी नहीं करेंगे ये है इश्क रसूल कि जिन्होंने रसूलुल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया जिनकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफ़ा थी तो अल हजरत इमाम सुन्नत शेख अब्दुल हक मुहदस इमाम गजाली मुजद अलिफसानी मुजद अलिफसानी रहम फरमाते हैं मकतूबा शरीफ में कि जो गौस आजम को नहीं मानता वो कभी वली नहीं हो सकता मुजद अलिफसानी फरमाते हैं तो वत तबा तो मिलत आबाही ईमान बचाना है तो इन बुजुर्गान दीन के दामन को थामना है अब हमारे यहां पर क्या जोर दिया जाता है जी कुरान की बात करते हैं हदीस की बात करते हैं लेकिन हम ये कहते हैं कि कुरान और हदीस की हम बात करते हैं लेकिन रसूलुल्लाह के नूर के साथ सहाबा और बुजुर्गान दीन ने जिस तरह कुरान समझा हम उसी तरह समझते हैं तो अब यहां पर कुरान के जरिए गुमराह करने के दो तरीके इख्तियार किए जाते हैं एक तरीका तो ये कुरान कुरान कुरान कुरान कुरान हदीस का जिक्र ही नहीं और बुजुर्गान दीन का जिक्र ही नहीं तो फायदा क्या हासिल हो गया फायदा यह हासिल हो गया इन्हें कि बंदा ये सोचेगा कि मुझे हदीस की जरूरत नहीं साहबा और बुजुर्गान दीन ने जो तफसीरें कहीं उन्हें भी मुझे उसकी भी जरूरत नहीं अब मैं कुरान का तर्जमा पढ़ू जो मेरी समझ में आए मुझे करना है तो इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा नहीं खुद बाखुद लोग गुमराही की राह पर आ गए लोगों ने कुरान पढ़ना शुरू किया और फिर अपनी अकल से लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी जी कुरान काफ़ी है हदीस की ज़रूरत नहीं साहब कराम के अकवाल की ज़रूरत नहीं हकीकत तो यही है कुरान ही काफ़ी है लेकिन कुरान हदीस के बगैर समझ में नहीं आता और हदीस साहबा कराम के अकवाल के बगैर समझ में नहीं आता और साहबा कराम के अकवाल बुजुर्गान दीन के अकवाल के बगैर समझ में नहीं आते दूसरा तरीका गुमराह करने का कुरान कुरान कुरान का नाम लिया गया अब लोगों को अरबी तो आती नहीं कुरान का तर्जमा किया गया तो जहां जहां तर्जमा इनके अकाइद से टकरा रहा था वो तर्जमा उन्होंने बदल दिया देखिए ना कादियानियों ने कुरान का तर्जमा सबसे ज्यादा जबानों में किया है ये एक हकीकत है कुरान का तर्जमा तकरीबन तमाम ही जबानों में कादियानियों ने किया है कादियानियों को क्या जरूरत थी कुरान का तर्जमा करने की दो वजह से उन्होंने किया एक तो यह कि आम मुसलमानों को यह तासर दिया जाए कि हम कुरान की खिदमत कर रहे हैं देखो अगर हम कुरान के मुखालिफ होते तो कुरान का तर्जमा क्यों करते एक तो उन्होंने ये साजिश की दूसरा क्या किया कि कुरान का तर्जमा हर जबान में इसलिए किया ताकि जो अकायद वो देना चाहते हैं वो गलत तर्जमा वो करके लोगों को देना चाहते हैं मसला कुरान मजीद फ़ुकान हमीद में है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वसलाम ने फरमाया व मुबशरम बे रसूल याती मिम्बादिस्महू अहमद आपको पता है कि कादियानी का जो नाम था वो नाम था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इसका नाम क्या था गुलाम अहमद अब गुलाम अहमद अलग चीज है और अहमद अलग चीज है कि नहीं है अब्दुल्ला और अल्लाह ये दोनों एक तो नहीं है अब्दुल्ला का माना है अल्लाह का बंदा तो गुलाम अहमद का माना है अहमद का गुलाम गुलाम अहमद का माना क्या है अहमद का गुलाम गुलाम रसूल का माना क्या है रसूल का गुलाम तो बताइए गुलाम रसूल नाम और कहे मैं रसूल हूं तो ये तो नहीं हो सकता तो इसका नाम क्या था गुलाम अहमद और सूर सफ आयत नंबर छ सूर्य सफ आयत नंबर छ अट्ठाईसवां पारा रुक नंबर नौ यहां पर फरमाया कि ईसा सलाम बिशारत देते थे एक रसूल की कि जो आप फरमाते मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा उसका नाम क्या होगा अहमद होगा तो ईसा सलाम ने किस अहमद की बिशारत दी जोर से बताएं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कादियानियों ने जो तर्जमा किया है वो तर्जमा पता क्या किया है ईसा सलाम ने बिशारत दी कि मेरे बाद एक रसूल आएगा जिसका नाम अहमद होगा और ब्रैकेट में लिखा मिर्जा गुलाम अहमद खादियानी नऊज इसी तरह कुरान की आयत मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं तो वहां ब्रैकेट में लिखा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी और कहीं बगैर ब्रैकेट के लिखा मोहम्मद मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी तो आपने देखा कुरान का तर्जमा करते हुए उन्होंने तर्जमा क्यों किया ताकि वह तर्जमे के जरिए अपने अकायद का इजहार कर सकें इसी तरह जो रसोल्ला के गुस्ताख हैं जो अल्लाह के बेअदब हैं जो साहब कराम के बेअदब हैं तो उन्होंने तर्जुम में इसी हिसाब से डंडियां मारी मसला तीसरा पारा आखिरी जो पाव शुरू होता है यानी जहां पर सलासा मुकम्मल होता है व मकर व मकर अल्लाह वल्लाह खैरुलमाकिरीन तो तर्जमा किया कि अल्लाह ने फरेब किया और अल्लाह बेहतरीन फरेब करने वाला है नवजुबिल्ला ये अंग्रेजों के दौर में तर्जमे किए थे और आज भी मार्केट में मिलते हैं सूर्य बकरा आयत नंबर पंद्रह का तर्जमा अल्लाह यस्ताजीन आप सोचें नऊज बिल्ला में जालिक अगर कोई ये कहे कि अल्लाह मजाक करता है ठट्टा करता है तो हम उसका मुंह तोड़ दें लेकिन तर्जमा देखें अल्लाह यस्ताजीन का तर्जमा किया अल्लाह उनसे मजाक करता है ठट्टा करता है कहिए नऊज बिल्ला इसी तरह पांचवें पारे के एंड में तर्जमा किया इन मुनाफिकीन युखादिउन अल्लाह वह खादिउम अल्लाह मुनाफिकों को धोखा देता है नऊज बिल्ला हमें जालिक कही अस्तफरल्ला क्या अल्लाह ताला धोखा दे सकता है तो अल्लाह की तरफ धोखा फरेब चाल हसी मदाक ठट्टा ये नस्बतें क्यों की गई अंग्रेजों ने यह तर्जमे क्यों करवाए और इन्हें आम क्यों किया अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकल जाए फिर रसूलुल्लाह की गुस्ताखियां वजदा का दौलन फहदा अब तर्जमा तो यह है कि आपको हमने अपनी मोहब्बत में गुम पाया तो अपना मजीद कुर्ब दिया लेकिन तर्जमा क्या किया आपको हमने गुमराह पाया तो हिदायत दे दी नवजुबिल्ला मिजाज अब बताएं नबी ही गुमराह हो तो वो क्या दूसरों को हिदायत देगा कितना गलत तर्जमा है तो इस तरह के तर्जमे करके दूसरी साजिश की गई अब लोग आज भी तफसीर कुरान का नाम लेते हैं दरस कुरान का नाम लेते हैं लेकिन आम आदमी को अरबी तो आती नहीं है वो तर्जमे में जहां डंडी मारनी हो तो डंडी मार के निकल जाते हैं और लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो क्या फिर वो बोलते भी नहीं है लेकिन तर्जमा सुन सुन सुनकर इंसान का जहन खराब होता रहता है यहां तक के वो बदअकीदा हो जाता है उसका ईमान बर्बाद हो जाता है तो ये हुई दूसरी साजिश तीसरी साजिश ये है कि तर्जमा तो सही किया जाए लेकिन मफहूम और मुराद गलत बताई जाए मफहम और मुराद क्या बताई जाए गलत बताई जाए इन नमल हयात दुनिया लवीम वलहन व जीनत व तफाखरुम बई नन्नास व तफाखरुम नकुम व तकाथुर फिल अम्बाली वला औलाद दुनिया की जिंदगी तो खेलकूद है जीनत है आपस में फख्र करना है और माल और औलाद में कसरत को हासिल करना है अब यह कुरान की आयत है इसका तर्जमा भी यही है लेकिन इसको अगर यूं बयान किया जाए दुनिया की जिंदगी का मकसद अल्लाह ने यह बयान किया कि दुनिया में हमें क्या करना है लाइबों वलाबन खेलकूद करनी है माल और औलाद को बढ़ाने की कोशिशें करनी है हमें जीनत इख्तियार करनी है और हमें जो है एक दूसरे से आगे बढ़ना है कुरान हमें यह कह रहा है तो हमें दुनियावी तरक्कियों से पीछे नहीं होना चाहिए साइंस की तरक्कियां होनी चाहिए अब साइंस की तरक्की से किसको इंकार है लेकिन सवाल यह कि इस आयत का यह मफहम तो नहीं है तो जो लोग दुनिया में खेलकूद से मना करते हैं देखें कुरान तो कह रहा है कि दुनिया की जिंदगी क्या है खेलकूद है जीनत है एक दूसरे से आगे बढ़ना है माल में औलाद में तो हमें पीछे नहीं होना चाहिए आगे बढ़ना चाहिए अब इस तरह देखें वो तर्जमा वही किया लेकिन उसने क्या कर दिया मफहम बदल दिया मुराद बदल दी अब बंदा जब इस आयत को पढ़ेगा उसके जहन में क्या आएगा कुरान मुझे आगे बढ़ने का कह रहा है तो ठीक है कुरान जो है वो हमें दुनियावी तरक्कियों से रोकता नहीं है लेकिन दुनिया में खेल कूद के लिए हम पैदा नहीं हुए दुनिया में हम आए हैं वमा खलकुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून सिर्फ इबादत के लिए पैदा हुए हैं दुनियावी तरक्की भी हो तो नीयत दीन की तरक्की के लिए हो किसके लिए हो और शरीयत के दायरे के अंदर हो लेकिन ये मफहम नहीं बताया जाता और ये को मैं मजाक नहीं कर रहा मैंने खुद एक जगह पर गया तो वहां पर टीवी चल रहा था वो था पीस टीवी जाकिर नाइक वाला और उसमें एक खशखशी दाढ़ी वाला वो दरसे कुरान के नाम से तकरीर कर रहा था और उसने ये अल्फाज कहे हैं ये मेरे खुद कोई बनावटी अल्फाज नहीं उसने ये कहा है उसने कहा कि इस्लाम हमें कहता है खेलो कूदो आगे बढ़ो खूब कमाओ खूब दौलत कमाओ खूब दौलत जमा करो इस्लाम अयाशी करने से रोकता नहीं है इस्लाम बुलंद बाला मकामात जो मकानात बनाने का दर्ज देता है और आयतें पढ़ रहा है कितने जाहिल लोग हैं खुद भी गुमराह हैं लोगों को गुमराह करते हैं और इकबाल ने दुरुस्त कहा खुद बदलते नहीं खुरां को बदल देते हैं इसी तरह मफहम कुरान बदलने की जो साजिश है उसका दूसरा अंदाज भी है वह अंदाज ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर आप एक जगह पर बैठे हुए हैं गुफ्तगु चल लगी है और गुफ्तगु के दौरान कोई बात निकलती है तो आगे पीछे की गुफ्तगु से मफहम बदल जाता है ऐसा है कि नहीं आगे पीछे की गुफ्तगु से मफहम दूसरा होता है लेकिन अगर इसी बात का एक जुमला हम वहां से निकालें और आगे पीछे दूसरा मफहम लगाते हैं तो अब उसी जुमले का मफहम क्या हो जाएगा दूसरा हो जाएगा मसलन आप किसी के यहाँ पे गए और वो मजाक के मूड में है और आप भी मजाक के मूड में है और वो दोस्त है और आपकी बिल्कुल जो फ्री शिप है और वो दोस्ती के मूड में और आप भी मजाक के मूड में है वो कहता है क्या सुबह सुबह दिमाग खराब करने के लिए तू आ गया तो अब देखें आप उसकी बात को माइंड नहीं करेंगे क्योंकि मजाक चल रही है और ये दोस्ती की बिल्कुल एक बिला तकल्लुफ बेतकल्लुफी के आलम में कह रहा है और आप भी उसका जवाब देते हैं कि यार नाश्ता करना था तो भूख लगी थी मैंने कहा चल तेरे घर पे जाता हूं तो आ गया चल नाश्ता करवा और तू बड़ा कंजूस है मुझे नाश्ता नहीं करवाएगा अब ये सारी गुफ्तगु जो है क्या है ये मजाक के पैराए में है आप उसको माइंड नहीं करते अब आप यहां से निकले और आपने किसी को कहा यार मैं उसके घर पर गया देखो तो यार अखलाक है किसी का मुझे कहता है क्या इस वक्त तू मेरा दिमाग खराब करने के लिए आ गया अब देखें सारे उस जुमले का मफहम क्या हो गया बदल गया तो ये समझाने के लिए मिसाल है अब मैं आपको मिसाल देता हूँ जो लोग अब देखें जो तकरीर का अंदाज देखें जो लोग गैरुल्लाह की तारीफ करते हैं कभी नबी की तारीफ कर रहे हैं तो कभी वली की शान बता रहे हैं वो देखिए कुरान क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की है अब देखा मफूम सारा बदल गया ये जो पस मंजर उसने बयान किया उससे अल्हम्दुलिल्लाह का मफहम सारा क्या हो गया बदल गया अब जब भी वो हुजूर की नात सुनेगा तो उसके जहन में वसवसा आएगा यार तारीफ तो सिर्फ अल्लाह की करनी चाहिए अब उस बेवकूफ़ को कौन बताए कि पूरे कुरान में नबियों की और वलियों की जो अल्लाह ने तारीफ़ें की वो क्यों की हैं और जो रसूल ने साहबा इकराम के सिद्दीक अकबर की तारीफ़ें की हज़रत उमर की तारीफ़ें की वो क्यों की कि हजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर नबी होते उमर की तो ये शान है कि शैतान उन्हें नहीं बहका सकता बल्कि जिस गली में उमर हो उस गली में शैतान दाखिल नहीं हो सकता तो हजूर ने तारीफ क्यों की तो उसका जहन यहां पर नहीं जाएगा अब देखें इसको सही बयान किया जाए अल्हम्दुलिल्लाह रबालमीन तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं अगर किसी की भी तारीफ की जाएगी तो सबको खूबियां देने वाला कौन है अल्लाह है तो चीज की तारीफ बनाने वाले की तारीफ है अगर हम किसी नबी वली की तारीफ करते हैं तो नबी और वली को पैदा किसने किया बोले अल्लाह ने पैदा किया तो नबी और वली की तारीफ दर हकीकत अल्लाह की तारीफ है क्योंकि चीज की तारीफ बनाने वाले की तारीफ होती है अब ये जो तशरी है ये जो तफसीर है ये तफसीर बुजुर्गान दीन ने लिखी है तो जब तक हम वत तबाह तो मिलत आबाई पर अमल पैरा नहीं होंगे कि बुजुर्गान दीन की तालीमत को और उनके अकायद को उनके नज़रियात को थाम लें इसके लिए दो किताबों का मताल ज़रूर रखें अपने साथ एक तो ज़िक्र जमीन इसको आप पढ़ें और देखें कि साहबा कराम रसूल से कैसी मोहब्बत रखते थे ज़िक्र जमील ये किताब और दूसरा बुजुर्गों के अकीदे दूसरी किताब का नाम क्या है बुजुर्गों के अकीदे तो आप देखें कि बुजुर्गान दीन सहाबा अहल बैत अथार मुहदसिन मुफसरीन आयम मुश्तदीन अलिया कामिलीन के अकायद क्या थे उनकी किताबों से सफ़ा नंबर जिल नंबर के हवाले के साथ ये किताब है बुजुर्गों के अकीदे और दूसरी किताब का नाम है ज़िक्र जमील ये दोनों किताबों का मुताल करें और खुदारा अपने ईमान की हिफाजत करें टी टीवी खोलकर आंखें बंद करके मत बैठ जाया करें क्या मालूम वो कादियानी है यहूदी है ईसाई है हिंदू है या वो परवेजी है हदीस का इनकार करने वाला है साहबा का बेअदब गुस्ताख है या रसूलुल्लाह का बेअदब गुस्ताख है कोई भी आकर डायरेक्ट बेअदबी नहीं करता पहले वो कुरान कुरान की बातें करता है जब आदमी का एतमाद और भरोसा आ जाता है फिर उसकी हर बात को इंसान अकीदा बना लेता है अल्लाह रब्लमीन हमारी हमारी औलाद की और हमारी नस्लों के ईमान की रबालमीन हिफाजत फरमाए आमीन बिजाहिन नबी नमीन सल्ला अलैहि